करेगी नदी मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी गरुड़ नारद मामोली पवन बात समझा बहु

पास गए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पूजा और ब्रह्मा जी ने उनको शंकर जी के पास भेज दिया जब जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी कहते हैं उस समय की मैं कुबेर जहाँ जा रहा था मार्ग में उनको मिले और कुबेर अभी की शंकर जी की और गर्व की क्या बात होती है तो कहते ही मन पर सागर से नावा तो गर्व के आदर के भगवान शंकर जी के चरणों में सब आदर पूर्वक प्रणाम किया अपने अपने संदेश सुनावा और उसके बाद फिर तब उन्होंने अपना संदेश उनको बताया कि हम इसलिए आए हैं उनको इस प्रकार का संदेह हो गया है वास्तव में बात क्या है आप समझाइए अब देखते हैं यहाँ से गरुड़ का जो हो रूप बदला उन्होंने नारद को प्रणाम नहीं किया प्रणाम को भी नहीं किया शंकर जी को आकर के उन्होंने प्रणाम किया ये बात मैं इसलिए उसी का उल्लेख करते हैं कि कोई मन पद के आवास में सादर चौदह में प्रणाम किया मना विनम्रता नम्रता रही है अभिमान घटने लगा तो ज्ञान का उदय उतना ही होता है जितना कि अभिमान घटता जाता है जब अभिमान पराकाष्ठा पर होगा तो मोह सबसे ज्यादा होगा जैसे जैसे अभिमान घटेगा तैसे तैसे ज्ञान उत्पन्न होने के लिए सुप्रताप दिखाई देने लगे अब इनको निम्नताई नहीं आई न इनको गर्व को अभिमान था ये बात आज स्पष्ट हो जाएगी और उसका अभिमान का ये सूचक था उन्होंने ब्रह्मा जी आदि को प्रणाम प्रश्न तो करते हैं तो प्रश्न उससे किया जाता है जो अपने से ज्यादा जानता अब जब अपने से ज्यादा जानता तो प्रणम्य हो जाए अब ऐसे थोड़ी होगा कि जान, जानता हमसे ज्यादा है लेकिन हम उसको धक्का मार के पूछ लेंगे ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे इसलिए वो यहाँ पर दिखाते हैं नारद जी के मैं भी उनको कोई उपदेश नहीं दिया ब्रह्मा जी ने उपदेश नहीं दिया लेकिन शंकर जी जो है इनको इनके शंकर जी ने इनको कुछ समझाया कुछ न कुछ बात कही तो कहते कई ममता तो पद सागर शरणावा और पुण्य आत्म संदेह सुनावा और सुनता कर बिनती मृदुपानी तो शंकर जी कहते हमने उसकी बिनती सुनी मैंने संदेश अपना कहा स्तुति करके प्रार्थना करते हुए पूछा विनम्रता के साथ उसने किया और मृदुवाणी से किया हमें बड़ी विनम्रता के साथ विनम्रता से बोलते हैं तो पानी में प्रतिता भी आ जाती है तो मृदुवाणी जी थी विनम्रता की भी थी राम जीरो ने किया था तो ये सब उद्देश्य शंकर जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ कर दिया कहते तो प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी पर शंकर जी कहते मैंने भी उसके प्रेम को पक्ष समझाया उसी प्रकार से समझाया समझाया क्या कि मिलो करो मार्ग तो ही कवन भात समझाओ तो ये बात समझाई तो प्रश्न किया वो तो बहुत अच्छा प्रणाम भी किया बहुत अच्छा नम्रता भी दिखाई वो भी बहुत अच्छा लेकिन दूसरी बात ये कि प्रश्न जो है मार्ग में नहीं किया जाता है या कोई व्यक्ति जिससे प्रश्न करना वो काम में लगा हुआ है तब प्रश्न नहीं किया जाता प्रश्न करने में थोड़ा धीरे रखा जाता है इस प्रकार से प्रश्न करते हैं इसको देखते हैं यहाँ पे इसको तो शंकर जी साथ साथ कह लेते हैं मुझे गरुड़ मार्ग में मोही गरुड़ तुम मुझे तुम तो मार्ग में मिले हो और कवन भाग समझाओ तो ही अब यहाँ रास्ते में तुम्हें कैसे बता कभी क्या बता दो तो रास्ते ही बता दो बताओ जल्दी गई हम भी आगे बढ़े आप भी चलो हम्म, क्यों प्रसन्न तमाम टाइम बर्बाद करें नहीं ऐसा नहीं होता बाकी एक सबल बोली सब संशय गंगा जब बहु काल करिए सत्संगा समस्या ये है कि ये तो मोह कोई जरा देर में बता देने से दूर हो जाए और ज्ञान उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं हुआ करता इसके लिए बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है ये, ये सब सिद्धांत है इनको तब तभी हो इन सब संशय गंगा समस्त संदेश कभी दूर होंगे जब बहुकाल करिए सत्संगा जब बहुत काल तक सत्संग करो ये दो चार दिन दस दिन की साल दो साल की बात नहीं है बहुत काल तक सत्संग करो तो करते करते करते सत्संग में दो बातें एक तो धीरे धीरे करके जो सत्य बात है वो समझ में आने लगे वो भी समझ में आने लेकिन अपने मात्र से मोह बंद नहीं हो जाता जब व्यक्ति के चित्त के ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण है वो भी धीरे धीरे हटे स्वभाव बदले विचार बदले तो उसके लिए समय लगता है प्रकृति स्वभाव के बदलने में समय लगता है वो समय जब लगता है तभी उसकी जो हो प्राप्ति होती ज्ञान का उदय होता है गीता में भगवान कह दिया तो किसी को कैसा कर दिया अनेक जन्म सकती और फिर ये भी कह दिया कालीन आत्मा जिंदगी उसको काल लगता है समय लगता है तब उसका ज्ञान होता है बहुत जल्दी में नहीं प्रकाश सकता पहले कदम होई सब संशय भंगा जब काल करिए सत्संगा और सुनिए कहा हरी कथा सुहाई और सत्संग में और सत्संग में ही ऐसा हो सकता है कि बहुत समय तक सत्संग में रहे तो धीरे धीरे करके मूर्त और सत्संग में होता क्या है भगवान की कथा होती सत्संग का सार भगवान की कथा ही है जैसे सुनिए कहा हरी कथा सुहाई कथा के तो मैंने हमेशा कहानी भी है हिंदी में कथा करके आ गया कथा माने कहानी तो कहानी करके नहीं है कथा तो माने है जैसे सत्य कथन सही कथा बन गया कथन मैंने कहना सत्य जो बात कही जाए ऐसी कथा हाँ, जो जो जिसमें जैसे परमात्मा की कथा मैंने ऐसा नहीं परमात्मा का उतारो का वर्णन हो तभी कथा तो परमात्मा कैसा क्या है उपनिषद जो है वो भी भगवान की कथा है जिनमें कथा नहीं है मैंने इतिहास की कहानी नहीं है तो भी भगवान कैसे हैं क्या है परमात्मा क्या है आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है ये सब उसमें समझाया गया उदाहरण दिए गए समझाया भी गया है तो वो सब भी कथा ही है भगवान इसलिए कथा शब्द व्यापक अर्थ है उसका अर्थ में सीमित अर्थ में नहीं इसलिए कहते हैं कि सुनिए कहा हरि कथा तो आई भगवान की सुंदर कथा तो वहाँ पर बहुत काल तक सब सुने और नाना भांति मुनि ने जो गाई मुनियों ने भगवान की कथा वर्णन नाना प्रकार से किया है कितने उपनिषद है उसमें तरह तरह से है इतने प्राण आदि में उनमें तरह तरह से है बहुत जगह प्राणों में वार्तालाप है एक शिष्य है एक गुरु है प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं तो तरह तरह से मालूम होता है कि सबका समझाना अपने अपने ढंग से है अपने अपने ढंग से वो लोग उसका वर्णन करते हैं वो सब उसमें आता है तो नाना भांति ने जो गाई और यही माँ आदि मध्य अवसाना और कहते हैं इस कथा में क्या है इसके आदि में मध्य में और अवसान में अंत में प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना भगवान का भी प्रतिपादन किया गया है कथा वही है जिसमें कि भगवान का ही निरूपण हो आदि में मध्य में अंत में अब जैसे रामचेत मानस है तो कहें रामचेत मानस में क्या लिखा है कोई पूछे क्या लिखा हुआ है तब उसमें कहानी बताने लगे तो थोड़ी कहानी लिखी हुई है तो उसमें ये है कि परमात्मा क्या है ये लिखा हुआ है तो कहानी क्यों कही गई है जिससे कि समझ में आ जाएगी परमात्मा क्या है मोह दूर हो जाए चित्त में ठीक ठीक बैठ जाए कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है अपना संबंध परमात्मा से क्या है जगत का संबंध परमात्मा से क्या है ये सत्य की बात हृदय में प्रकट हो जाए यही मुख्य बात है यही महा आदि मध्य अवसाना कथा में शुरू शुरू में अब चित्र मानस के शुरू में देखो सबका वर्णन के भगवान क्या है भगवान के नाम की महिमा क्या है पहले सब उसका वर्णन करते हैं फिर कथा चलती है जब बीच बीच में बार बार कहते रहते हैं भगवान ब्रह्म परमात्मा है नारायण है प्रभु है तीनों लोगों के स्वामी है सबके हृदय के ही है अंतर्यामी है सर्वशक्तिमान है सर्व यही बीच बीच में सब भगवान की बातें इस प्रकार क्या है वो बार बार बीच बीच में बताते रहते हैं जब कथा चलती रहती है हर पे स्पष्ट में आ जाएगा हर जगह आ जाएगा एक पंथ दो पंथ के बाद में फिर भगवान कैसे आ जाएगा बार बार भगवान का जो स्वरूप है अपना उनके लक्षण है उनका उल्लेख बार बार करते जाते हैं करते जाते हैं अब कथा जब अंत होगा तब एक बार फिर सब कथा को छोड़ करके परमात्मा कहता वही सब बता दिए सबको इस प्रकार से क्रम ये चलता है कि संपूर्ण ग्रंथ में परमात्मा का ही निरूपण है इसलिए जो बालकांड के शुरू शुरू में कहते हैं कि श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए तब परमात्मा की प्राप्त होती है कुल बात इतनी है कि श्रद्धा विश्वास परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जो कि परमात्मा हमारे हृदय में पहले से ही है वही प्रकट हो जाता है श्रद्धा से कहते हैं कि श्रद्धा से शास्त्र के निकट गए और अध्ययन किया पुस्तक भी पढ़ा सुना ये श्रद्धा हो और जब श्रद्धा के पर पुस्तक पढ़ने लगे पुस्तक में क्या पढ़ा क्या सुना उसने परमात्मा याद से अंत तक बार बार उसी को पढ़ने लगा तो जब परमात्मा का वर्णन बार बार आएगा तो परमात्मा कैसा है जानकारी होगा उसका ज्ञान होगा जब उसका ज्ञान होगा तो उसका प्रेम होगा तो उसमें चित्त उसमें स्थापित होगा ये क्रम है इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है यही श्रद्धा विश्वास श्रद्धा के मैंने शास्त्र लक्षणों में श्रद्धा विश्वास के मैंने परमात्मा में विश्वास विश्वास कैसे होता है परमात्मा में शास्त्र का अध्ययन लें परमात्मा में विश्वास हो वो करेंगे तो विश्वास कैसे हो जाए और शास्त्र के ऊपर पास नहीं जाते हैं परमात्मा में विश्वास प्राप्त करना है तो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ग्रंथों का अध्ययन करते हैं लेकिन क्यों नहीं करते इसका अध्ययन जब परमात्मा का विश्वास शास्त्रों से होना है तो शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए तो क्यों नहीं करते क्यों बोलना श्रद्धा में नहीं तो उनको पढ़ेंगे कितनी कितनी खाद्य गीता प्रश्न ने और का अनुमान कितनी गीता तो करोड़ों लाखों की संख्या में छाप दी लेकिन जिनके श्रद्धा नहीं उनको देखते रहते हैं लोग बात कभी कभी कथा सुनने के लोग बात जाते हैं हाँ, लेकिन उनके घर में कर्मा नहीं होगी उनके घर में गीता नहीं होगी इसलिए वहां जाकर के कपिल कथा सुनी अब देखो इसमें भगवान शंकर जी ने कितनी उपदेश की बात बता दी प्रारंभिक कथा तो नहीं सुनाई लेकिन कथा की महिमा कितनी सुना दी कथन की महिमा कितनी सुना सत्संग करते करते कभी न कभी मोह दूर होगा विद्या दूर होगी और मोह गए न राम पद हो न विभाग और बिना भगवान जब तक मोह दूर नहीं होता तब तक इसके मैंने भगवान का ज्ञान नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान के चरणों में प्रेम पैदा नहीं होता ये भक्ति तक है भगवान का ज्ञान मोह गए बिन राम पद हो न तड़ाग मोह के जाने के माने ज्ञान का उदय होना मोह रहे ये ऐसा नहीं कि मोह चला गया और क्या उदय हुआ और मोह चला गया और भक्ति आ गई ऐसे नहीं होना मोह जाने के माने ज्ञान का उदय परमात्मा क्या है कैसा है कहाँ है क्या रूप है उसकी क्या महिमा है ये सब तो समझ में आ गई मोह दूर होते ही जब उनका समझ में आ गई तो बस उसी से फिर भगवान का के चरणों में प्रीति हो गई प्रेम भी है अन्य प्रकार को बोला तुलसीदास तो देखो जब तक उसको जानते नहीं जब तक उसमें विश्वास नहीं होता जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता जब तक प्रेम नहीं होता तब तक उन्नति नहीं होती इसलिए परमात्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा को सत्संग करेगा सत्संग से ज्ञान प्राप्त करेगा अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सत्संग है और दूसरा गुरु के पास रह करके भी उपदेश करते हैं भी सत्संग है जब नौदा वर्ष में भगवान ने सौरी से कहा तो वहां से पहले इसको बताया कि सत्संग और सत्संग से जो हरि कथा सुनो और फिर आगे चल करके भक्ति बन जाती है गुरु सत्संग कर सेवा ईश्वर भगत मान भगवान के गुरु के चरणों में अब उनके बाद इसके माने फिर कथा का सत्संग में तो कथा भगवान की सुनी और प्रकार के सत्संग में तो बहुत संत भी हो सकते हैं तो सभी लोग भगवान की कथा कह सकते हैं लेकिन जब गुरु के निकट पहुंचे तो एक पर एक प्रश्न करने के लिए अवसर मिल जाता है कि फिर गुरु से पूछा और गुरु बताता जाता है पूछते जाते हैं बताते जाते हैं तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार की मोह की समस्या जहाँ कहीं होती है वो सब दूर होती चली जाती है इसलिए उसी में सत्संग में गुरु भी सम्मिलित है गुरु की सेवा या उससे शिक्षा ग्रहण करना वो सब भी उसमें सत्संग में ही है इसलिए मोह गई दिन राम पद हो ही अनुराग अब देखो इसमें इस प्रसंग में कैसे प्रश्न करना चाहिए और गर्व ने कहा गलती की इस कथी के द्वारा समझा दिया कि गर्व ने दो प्रकार की गलतियां की एक तो पहले ये कि बिना विनम्रता के वो नगर में घूमते रहे संदेह उनके इतनी अच्छी बात थी गर्व के गर्व के मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो उसको दूर करने के लिए वो उद्यत हो गए प्रयास करने लगे नहीं तो संसार में संदेह लिए गए व्यक्ति जीवित रहते हैं और जीवन के अंतिम समय तक संदेह ही लिए रहते हैं और ये माने रहते हैं कि संदेह तो दुनिया में सबको है और किसी का आज तक संदेह मिटा नहीं इसलिए हमको भी रहेगा तो रहेगा और मिट ही नहीं सकता किसी को नहीं मिटा हमारा भी नहीं मिटेगा बस ऐसे निषेधात्मक बुद्धि लिए सारे जीवन संदेह ही नहीं बने रहते संदेह के माने जब मन में बात आता है कि ये हम संसार में क्या कर रहे हैं परमात्मा क्या है जगत क्या है पता नहीं अगला जीवन क्या होगा शरीर छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे आपका जहाँ सबको जाना होगा हम चले जाएंगे ऐसे करके बस होकर के फिर यहाँ के काम वहीं वही लग गए कभी अपने समस्या का समाधान करने के लिए उद्यत नहीं होते उत्साह नहीं आता कि हम किसी प्रकार से जिस जात में हम पड़ गए हैं इससे छूटने का उपाय करें गरुण में कम से कम ये बात नहीं थी उनको मोह तो हो गया लेकिन मोह से निवृत्त होने के लिए तत्काल प्रयास करने लगे और <clears throat> उसमें गए सही दिशा में नारद जी से मिले तो गलत दिशा नहीं थी अगर इसी बात को पूछने के लिए मेघनाथ के पास चले जा जाते कि तुमने इनको नाग फासर बांध दिया हम तो उनको नाग उनके साथ तो खा गए छोड़ तो उनको दिया लेकिन तुमने इनको कैसे बांध दिया तुम ज्यादा शक्तिशाली हो ये ज्यादा शक्तिशाली है तुम बताओ कि कौन क्या तुम्हारा विचार क्या है तो वहां मेघनाथ से यही कहता अरे सब ये कुछ नहीं ये तो बालक है ये आदमी है हमारे समान शक्तिशाली कौन है सारे तीनों लोग में हमें पूजनी है हमारी पूजा करो ऐसे करके वो बोलता हूँ इसलिए कम से कम जरूर जो है वो इधर तो नहीं गए लंका पास थी मेघनाथ भी पास ही था रामण भी पास ही था वहां नहीं गए गए नारद जी के पास इतना तो कम किया उन्होंने सही लेकिन उसके बाद फिर जो वो अब प्रश्न करने में जैसी विनम्रता आनी चाहिए वो विनम्रता नहीं थी इसलिए दो जगह उनको उत्तर नहीं मिला जब उनको विनम्रता आ गई तो शंकर जी के पास उत्तर मिलने लगा लेकिन वहां दूसरी कमी रह गई कि वो इतना धैर्य नहीं रख सके शंकर जी जा रहे थे तो उनसे प्रणाम करते नमस्कार करते रास्ते में कहते कि आप लौट करके कब आ रहे हो कैलाश पर्वत पर तो कहते हैं अभी आते हैं घंटे भर में कहते तब तक हम हम चल रहे हैं वहीं पर बैठेंगे आपकी प्रतीक्षा करेंगे आप लौट करके आएंगे तो कुछ आवश्यक आपसे चर्चा विनती करनी है प्रार्थना करनी है तब के लिए हम चलते शंकर जी कहते हैं चलो कैलाश पर्वत में बैठना हम आते हैं तब तक वो उनको इतना धैर्य नहीं था लगेगा कर लोग सुबह के पास जाएंगे लोग जाएंगे नहीं अरे आएंगे तो आएंगे अब उनसे पूछो उनसे धीरे से नजर करके सो तो इतना नहीं हुआ उनसे इसीलिए परमातुर प्रति आयो तो पास आतुरता के कारण से ये उन्होंने किया तो इसमें आतुरता का भी काम नहीं है ये जो संशय का संशय का निवारण जो है धैर्य पूर्वक होना चाहिए तभी होता है और साधना भी धैर्य पूर्वक की जाती है तभी ये सब काम संपन्न होता है आध्यात्मिक साधना बड़े धीरज का काम है तब धीरे धीरे करके ये सब कार्य होते हैं तो इसमें दूसरी गलतियों से गर्व से इस प्रकार की हो गई लेकिन फिर भी शंकर जी ने उनको समझा दिया तो उनकी बात समझ में आ गई और फिर उसके बाद जैसा शंकर जी ने कहा कालभूषण जी के पास जाओ तो वैसे ही फिर वो गए भी अब आगे देखते हैं कि शंकर जी ने अब पार्वती ने पूछा कि भाई मान लो उसको समझ में नहीं आया तो समझ नहीं आया रास्ते में पूछ लिया तो आप तो उससे कह सकते थे कि भाई हम थोड़ी देर में आते हैं तुम चलो बैठो हम्म, हम तुमको बताते हैं समझाते हैं थोड़ी देर जरूर लगेगी लेकिन हम तुमको सब बता देंगे समझा देंगे तुम चलो कैलाश पर्वत में प्रगति के पेड़ के नीचे बैठना चलो हम वही आते हैं तो शंकर जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा ये बात आती है तो उसका कारण भी आगे बताते हैं शंकर जी आगे कहते हैं कि विलही न रघुपत विनय अनुरागा जोग तप ज्ञान विरागा सुंदर गिरील्य नीला तार सुशीला में प्रेम रखता है ये उसका मोह है और ये नहीं समझता कि जहाँ जहाँ अन्यत्र प्रेम है वो प्रेम का अंतता अपने लिए ही प्रेम है आत्मा के लिए परमात्मा के लिए प्रेम है बस जहाँ ये मोह निवृत्त हुआ कि वास्तव में प्रेम परमात्मा का है वही प्रेम प्रेम है तो ये प्रेम परमात्मा का प्रेम कोई अप्राप्त वस्तु का प्रेम नहीं है उसमें पंचदशी में दिखा दिया जैसे अप्राप्त वस्तु का प्रेम होता है वैसा प्रेम नहीं आत्मा का प्रेम है ये परमात्मा तो अपना स्वरूप ही है ऐसा उसका प्रेम है संसार में जो अन्य वस्तुओं का या व्यक्तियों का प्रेम है वे वस्तुएं आने जाने वाली हैं नश्वर वस्तुएं उन नश्वर वस्तुओं का प्रेम दूसरे प्रकार का ये प्रेम जो है आत्मा का प्रेम परमात्मा का प्रेम दूसरे प्रकार का है ये सब उसमें है पंचदशी में सब देख लें कि प्रेम परमात्मा का कैसे है कैसे परमात्मा का स्वरूप उसका क्या है वो सब उसमें विश्लेषण करके उसमें दिखा दिया था राधा जहाँ परमात्मा का प्रेम समझ में आ गया प्राप्त हो गया उसको मोह भंग हो गया तो समझ में आ जाता है कि आत्मा परमात्मा वही आनंद स्वरूप और उसी का प्रेम स्वाभाविक प्रेम तो परमात्मा में जब प्रेम प्रकट होता तो स्वाभाविक प्रेम प्रकट होता और उसी से परमात्मा की प्राप्ति है कहते कि ये भी जब तक विरागा चाहे कितना जो तक विराग इत्यादि क्यों करो जब तक कि परमात्मा का प्रेम समझ में नहीं आता परमात्मा का आनंद स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक परमात्मा मिलता भी नहीं ऐसे करके उन्होंने समझा दिया तो ये सब ये सब संदेहों की निवृत्ति का क्रम और उसका फल ये सब बता दिया जब तक संदेह है तब दुख होगा मैं चिंता के लिए शादी होंगे संदेह होगा तो माया अपने जाल में खाते रहेगी